अल्लाह ही है जिसने हक के साथ किताब को नाजिल फरमाया और मीज़ान को भी और तुम्हें क्या मालूम शायद कयामत करीब ही हो